यजेत स्वर्ग काम इसी वाक्य में श्रुति वाक्य है स्वर्ग साधन याग इसे ज्ञात होता है श्रुति में जो स्वर्ग साधनत्व है याग में याग नष्ट हो जाता है आगे फल मिलेगा मरने के बाद स्वर्ग तो अन्यथा अनुपपत्ति प्रमाण से वेदांत ईश्वर सिद्ध करते हैं पूर्व मीमांसा कहता अदृष्ट से हो जाएगा ईश्वर कल्पना करना कोई जरूरत नहीं ये अर्थापति प्रमाण से ये काल हाँ काल जो आया था सुत साधन तो सिद्ध अन्यथा अनुपपत्या किमित ईश्वर एवं निश्चते तत्र आगे नए अमर टीका में आया था पंचासी पृष्ठा में पंचासी पृष्ठा में काल आया था तद विशेष इत्यादि अर्थवादत्व इत्यर्थ न पूर्व द्वारा न श्रुत निर्वाह कल्पनीय यद व्यवहित फलम कर्म तचैतन्य प्रयुतमिति दृष्टायाः व्याप्तिर हानि प्रसंगात यहाँ अपूर्व द्वारा न अपूर्व शब्द मीमांसक लोग अदृष्ट को अपूर्व कहते हैं वेदांत उसका निराकरण करता है मीमांसक शब्द ईश्वर को भी अपूर्व कहते हैं पहले आया था ईश्वर क्यों माना यह आया था इक्यासी पृष्ठ में आया था द्वितीय पंक्ति टीका में जगत वैचित्र हेतुतम इष्टम तत्संप्रतिपन्नम विहाय अपूर्व ईश्वर कल्प्यते धर्मी तस फल हेतुतम च धर्म ये गौरव होगा में मासक ने कहा था तो अपूर्व शब्द वो ईश्वर को भी कहते हैं और अदृष्ट का अपूर्व सिद्धांति कहता है अदृष्ट कल्पना करना तो इसलिए यहाँ जो दिया है या अभी जो बताया यहाँ अपूर्व शब्द ये सिद्धांत या वाक्य पूर्व पक्ष का वाक्य होगा तो अपूर्व शब्द से ईश्वर कहेगा न यहाँ दिया न तद विशेष श्रुत्यादेर अर्थवादत्वाद इत्यर्थ पहले न च मानांतरमति पूर्व पक्ष ने कहा मीमांसक ने ईश्वर में प्रमाण नहीं है कि अर्थापति प्रमाण कहें अर्थापति तो अन्यथा उपपन्न हो गया तद विशेष श्रुत्यादेर अर्थवादत्वाद ईश्वर को कहने वाली श्रुति अर्थवाद इत्यर्थ यहाँ पूर्व पक्ष वाक्य समाप्त हुआ आगे सिद्धांति का अभिप्राय पहले जो पाठ चलाए था वहां पूर्व पक्षी के वाक्य लेकर के अपूर्व का अर्थ ईश्वर कहा था किंतु यहाँ से सिद्धांत शुरू होगा क्योंकि आगे स्पष्ट होता है हेतु देता है सिद्धांति न अपूर्व द्वारा न श्रुत निर्वाह कल्पनीय यद व्यवहित फलम कर्म तैतन्य प्रयुतमिति दृष्टाया व्याप्तिर हानि प्रसंगात हेतु दिया आगे अतः आगे यदि अतः नहीं होता तो सिद्धांति का यहाँ से शुरू कर सकते थे यद व्यवहित फलम वहाँ से यद व्यवहित फलम कर्म तचैतन्य प्रयुक्तमिति दिष्टाय व्याप्त हानि प्रसंगात श्रुत तो सिद्ध अनुपपत्या ईश्वर फलदाता कल्पने ये हो सकता था किंतु प्रसंगात अतः दिया इसलिए अतः करके आगे वाक्य होने से हेतु हो गया सिद्धांति कहता है न अपूर्व द्वारा न श्रुत निर्वाह कल्पनीय तो यहाँ अपूर्व का था ईश्वर नहीं अदृष्ट अदृष्ट अपूर्व कल्पना करके उसके द्वारा श्रुत निर्वाह श्रुत जो स्वर्ग साधन त्याग में उसका निर्वाह कल्पना करना ठीक नहीं क्योंकि ये व्याप्ति का त्याग प्रसंग ये व्याप्ति यदि प्रवेत फलम कर्म तो चैतन्य प्रतमिति दृष्टाया व्याप्तिर हानि प्रसंगात इसीलिए श्रुत साधन तो सिद्ध अन्यता ईश्वर फलदाता कल्पनीय त्याग करके तो काल जो इसे बताया था ठीक है अपूर्व उदाहरण का अर्थ अदृष्ट तो पहले पाठ चलाते समय अपरोगात शादी ईश्वर क्या था और ठीक नहीं अपरोगात अदृष्ट है अभी पाठ चलेगा सतासी पृष्ठ में कहाँ से टीका में तृतीय पंक्ति तस्मा से चले ना ननु से यागादि फलम कर्मादि अभिज्ञान दीयमानम व्यवहित फलत्वाद सेवा फलवत ये हो गया था हाँ।, हाँ उत्पन्न प्रध्वंसिनी हो गया उत्पन्न प्रध्वंसिनी भाष्य में आया तृतीय पंक्ति है हाँ। जे तत्र अनंतर फला फलापवर्गिणे व कालांतर फला तो उत्पन्न प्रध्वंसिनी ये दिया उत्पन्न प्रध्वंसिनी का उत्पन्ना सती फल मदत्वाय प्रध्वंसते उत्पन्न होकर के फल नहीं देकर नष्ट हो गया तत्र फलदाता कालांतर अपेक्षते कृषि आदि करते हैं सेवा आदि करते हैं वो समाप्त हो गया फल देने वाला कोई आगे फल देगा तो फल दान दान देने वाला कोई कालांतर अपेक्षित है उसके लिए अनुमान है सिद्धांति का यागादि फलम कर्म कर्मादि यागादि फलम कर्मादि अभिज्ञान दीयमान व्यवहित फलत्वाद सेवा फलवत यागादि फलम कर पक्ष बनाया कर्मादि अभिज्ञान दीयमान कर्म देश काल आदि कर्ता कौन है कर्म का क्या फल अभिज्ञान जानने वाले दे, दे का दीयमान दिया जाता है हेतु व्यवहित फलत्वाद व्यवहित फलत्वम सेवा फलवत सेवा का फल सेवा करने के बाद बाद में फल मिलता है वो व्यवहित तो फल हुआ भोजन करते जैसे तृतीय से सेवा करते समय तुरंत फल नहीं स्वामी बाद में फल देता है राजा आदि देते हैं भृत्य आदि सेवा करने पर तो इसी प्रकार यहाँ याग आदि फल भी व्यवहित तो फल है तुरंत स्वर्ग नहीं मिलता है व्यवहित तो फल तो पक्ष याग आदि फल में है जिस प्रकार सेवा फल कर्मादि अभिज्ञान दियमान सेवा का फल जो देगा वो जानता है कितने दिन काम किया क्या सेवा उसने की सब जान करके फल देता है ये नहीं कि सबको समान दे देता है किसको अधिक किसको कम कोई कितने दिन क्या जानने वाले फल देता है इसी प्रकार याग आदि फल भी देने वाला होगा जो कर्मादि अभिज्ञ होना चाहिए देश काल आदि अभिज्ञ होना चाहिए ये सिद्धांत कहता है तस्मा शांति भाष्य में आया नहीं अभी तो वहां तो भाष्य नहीं हुआ ना अधिनम ही कृष्य सेवादि फलम यतो आत्मसेव्यादिनम ही कृष्य सेवादि फलम कालांतर फल उत्पन्न प्रध्वंसिनी हो गई आत्मसेव्य अपने द्वारा आत्मना सेव्य है राजा आदि उसके अधीन ही फल होता है कृष्णेशवादि फलम यदा न च उभय न्याय व्यतिरेकेन स्वतंत्रम कर्म तत्वा फलम दृष्टम एक तो हो गया दृष्ट फल एक अदृष्ट फल दृष्ट फल भी दो प्रकार अनंतर फल आगामी फल अनंतर फल हो गया गति भोजन आदि आगामी फल हो गया कालांतर फल कृषि वासेवादी और वो जो अनंतर फला वो कर्म फल नहीं देकर नष्ट हो गया नहीं कहां फल देकर नष्ट फल देकर के नष्ट हो गया अनंतर फला किंतु कालांतर फला तो नष्ट हो गया फल नहीं दिया फल देने के लिए आगे देगा इसलिए उभय इससे दो प्रकार है उभय न्याय व्यतिरेकण स्वतंत्र कोई कर्म नहीं कर्म से फल नहीं दिखा गया तथा च कर्म फल प्राप्त हो न दृष्ट न्याय हानम उपपद्यते कर्म फल प्राप्ति के लिए जो प्रत्यक्ष न्याय जैसे व्याप्ति दिखती उसका त्याग नहीं करना चाहिए जब कर्म करते हैं कालांतर फला है तो कालांतर फला होने के कारण कोई फल देने वाला कर्म आदि अभिज्ञान चाहिए तस्मा शांत याग आदि कर्मणि नित्य कर्तृकर्म फल विभाग विभागज्ञ ईश्वर सेव्यादिवत यागादि अनुरूप फल धातु उपपद्यते शांति यागादि कर्मणि यागादि कर्म समाप्त हो जाने पर फल मिलेगा बाद में क्योंकि ये कालांतर फला है तो फल देने वाला नित्य है नित्य इसलिए जो कर्म करते समय है फल देते समय भी रहेगा तो अनादिकाल से बहुत कर्म है फल कभी मिलेगा सब कर्म देने वाला नित्य होना चाहिए न तो वो भी नष्ट हो जाएगा तो फल कैसे देगा याग नष्ट हो गया और कोई वो भी नष्ट हो जाएगा कैसे होगा नित्य होना चाहिए और केवल नित्य होने से नहीं कर्तृ कर्म फल विभागज्ञ नहीं तो न्याय के लोग कहेगा आकाश हमारा नित्य वो फल दे देगा ये नहीं कर्तृ कर्म फल विभागज्ञ कर्तृ का जो कर्म कर्म का क्या फल इसको विभाग जानने वाला किस कर्म का कौन करता किस कर्म का क्या फल सब जानने वाला करता उसका कर्म कर्म का क्या फल ये सब जानने वाला ईश्वर देगा फल कैसे देगा सेव्यादिवत जैसे सेव्य लोक में राजा आदि फल देते हैं भृत्यों को वो फल कर्म फल विभाग्य किसने क्या कर्म किया किसको कितने मिलेगा जानने वाला देता है इसी प्रकार यहाँ याग आदि अनुरूप फलदाता उपपद्यते याग होम दान तप जितने सब शास्त्रीय कर्म है उनके अनुरूप किस याग अश्वमेध याग वाजपेय याग सामान्य सोम याग विभिन्न प्रकार याग है तो याग के अनुसार ही फल धारणा वाला होगा टीका मैं ननु जीवस्तावत सो उपभोग साधन नियंता जीव अपने उपभोग साधन का नियामक है विषय है शरीर इंद्रियों का नियमन करता है उसका यदि कोई नियामक मानेंगे फल देने वाला तस्याप ईश्वर फलदान न नियंता चेते ईश्वर उसको फल देगा कर्म फल जीव स्वतंत्र नहीं आप कहते तो वेदांति कहते तो जीव कर्म करता फल देने वाला ईश्वर जीव तो अपने उपभोग साधन का नियामक है घर में अपने मालिक है तो भी उसका यदि ईश्वर नियामक हो गया फलदान न नियंता चेत दिश्यते तो नियामक जीव नियामक उसका भी कोई नियामक हो गया ईश्वर जीव जिस प्रकार नियंता उसका भी नियंता हो गया ईश्वर ईश्वर भी नियंता होने से उसका भी कोई नियंता होगा जीव अपने उपभोग साधन का नियंता उसका कोई नियामक नियंता हो गया ईश्वर जो जो जो नियंता है उसका और एक नियंता होगा जीव नियंता है उसका नियामक ईश्वर ईश्वर नियंता होने से उसका भी कोई नियामक होना चाहिए उससे बिना फलदान ने नियंता चेद दिशति ईश्वर तरी नियंतु सव्यतिरिक्त नियम्यत्व अंगीकाराद जो नियामक है नियंता है उससे भिन्न से नियमित होता है जैसे जीव जीव जैसे नियंता अपने उपभोग साधन का नियंता अपने से भिन्न ईश्वर से नियमित हुआ है तो ईश्वर भी नियंता होने के कारण सर्वत्रित नियमित्व अंगीकाराद ईश्वर से आप अन्यो नियंता प्रसज्येत ईश्वर का भी कोई नियम को नियंता होगा ईश्वर का कोई नियंता मानेंगे वो भी नियंता होने के कारण उसका भी कोई नियंता होगा नियंत्रित्व विशेषत नियंत्रित्व तो अनुमान कैसे होगा ईश्वर स्वव्यतिरिक्त व्यतिरिक्त नियम्य नियंत्रित्वात् जीववत ईश्वर सव्यतिरिक्त नियम्य नियंत्रित्वात जीववत ऐसे नियंत्रित विशेषात उसका भी कोई नियामक और यदि एक ईश्वर का नियंता मान लिया तो फिर उसको पक्ष बना करके वो व्यतिरित से नियम में होगा उसका भी कोई नियंता जो नियंता माने उसका भी कोई नियंता चलो हिसाब करते जाओ पाठ समाप्त किया दिन में समाप्त रहेगा सुश्रुति अभाव प्रसंग ऐसे उसका नियंता उसका भी नियंता बच्चे पूछते हैं उनका पिता कौन उनका पिता कौन उनका पिता कौन ऐसा देशो उनका ईश्वर ईश्वर का फिर पिता कौन है दो तीन चार बार फिर उनका पिता कौन है उनके पिता का नाम क्या है बच्चे को डांट देते हैं वो तो नहीं बता पाएंगे चुप रहकर बच्चे को डांट देते उनका पिता क्या है यदि उनका कोई कारण मानेंगे तो उनका भी कारण कौन यदि नियंता कोई है ईश्वर का नियंता कौन है तो अनवस्था प्रसंगात अनवस्था जहाँ है तो अनवस्था मूल अक्षय करी अनवस्था दोष होने से पूरा बिल्कुल मानना नहीं जो नियम होगा उसका भी नियंत मानेंगे तो आपत्ति अनवस्था इसलिए उसका कोई नियंता नहीं ततो अतिरिक्त नियम्यत्व व्याप्ति अभावात इसलिए ये कह रहा अत अनवस्था प्रसंग बाधित तो अनुमान इसलिए जो अनुमान कहा क्या था ईश्वर सव्यतिरिक्त नियम्य नियंत्रित्वात् जीववत वो अनुमान बाधित हो गया किससे बाधित हुआ अनवस्था प्रसंग रूप दोष से बाधित ऐसा अनुमान करें तो अनवस्था प्रसंग दोष होगा अनवस्था दोष कोई नहीं मानते इसलिए अनुमान बाधित हो गया तो साध्य सिद्ध नहीं होगा अर्थात ईश्वर का कोई नियंता सिद्ध नहीं होगा में कहा सच तो उसके लिए अनुमान नहीं ये तो पूर्व पक्ष ने अनुमान किया सिद्धांत ने जो अनुमान किया था उसका कोई कर्म फल देने वाला सेव्य है व्यवहित फल होने के कारण उसका भी कोई फल देने वाला होगा ईश्वर ये जो तुम्हारा अनुमान वो बाधित हो जाएगा पूर्व पक्ष कहता है अनवस्था प्रसंग बाधित अनुमान सिद्धांत का अनुमान आशंका करके सिद्धांति कहता है सच आत्मभूत सर्वस्य स ईश्वर सबका आत्मभूत है तो आत्मभूत होने से नियामक कैसे होगा जीव से भिन्न नहीं होगा तो यदि सबका आत्मभूत हो गया जीव से भिन्न नहीं होगा तो नियामक कैसे होगा कल्पित भेद मात्र न नियम का भाव उपपतेर न न तात्विक भेद अवकाश हो वास्तव नियम नियामक भाव कोई पारमार्थिक नहीं है वो कल्पित है कल्पित भेद से ही हो जाएगा स्वप्न में जिस प्रकार कल्पित भेद है उसमें सब नियम नियामक भाव उसमें सब व्यवहार होता है कल्पित भेद से ही नियम नियम का भाव हो जाएगा तात्विक भेद मानने की आवश्यकता नहीं तात्विक भेद का अवकाश नहीं तात्विक भेदवत्व च तात्विक भेद के जीव ईश्वर में ईश्वर में भेद कहीं मान लिया घटाधिपत कार्यत्व आदि प्रसंग जो तात्विक भेद जिसमें रहेगा वो तो परिचिन हो गया वस्तु परिचिन हो गया वस्तु परिचिन हो जाने से और घट आदि के समान तात्विक भिन्न हो घट आदि कार्यत्व आदि प्रसंग कार्यत्व अनित्यत्व आदि आपत्ति ततो अतिरिक्त नियम्यत्व व्याप्ति आदि इसलिए जो नियंता है वो अतिरिक्त नियम्य होगा अतिरिक्त नियम्यत्व की व्याप्ति है ही नहीं नियंत्री में न अनवस्था प्रसंग इसलिए अनवस्था प्रसंग नहीं है सिद्धांति कहता है राजवत ईश्वर फलदाता चेत पूर्व पीछे कहता है राजा जैसे फल देता है ईश्वर ऐसे फल देगा राजा किसको दंड देता है कहता है इसको शिरच्छेदन करो इसका सुली दे दो इसको बंदी में रख दो किसको छोड़ देता है राजा जिस प्रकार निग्रह अनुग्रह करता है इसी प्रकार ईश्वर भी करेगा तो राग द्वेष वाला हो जाएगा ईश्वर राग द्वेष वाला होगा तो क्या ईश्वर है हमारे जैसा हो जाएगा राजवत ईश्वर फलदाता यदि मानेंगे तरी तब निग्रह अनुग्रह कर्तृत्व आदमी निग्रह किसको दंड देगा अनुग्रह किसको कृपा करेगा धन दे देगा राज्य दे देगा राग आदिमान सात आदिप से क्या लेंगे राग द्वेष वाला हो जाएगा ऐसा संक्रमण से तत्रह सिद्धांति कहता है सर्व क्रिया सच आत्मभूत सर्वस्य सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी सर्व क्रिया फल प्रत्यय क्रिया फल प्रत्यय के साक्षी है कर्म फल प्रत्यय कर्म फल कर्म कोई क्या करता है और कैसे क्या चिंतन करता है सब का साक्षी है ईश्वर क्रिया क्रिया का फल जानता है और प्रत्यय किसका ज्ञान और चिंतन क्या है सब जानने वाला ईश्वर नित्य विज्ञान स्वभाव ठीक है मैं यथा लौकिक साक्षी कस्यचित जय हेतु अन्य से पराजय हेतु अपि न राग कहते थे कोई दोनों विवाद करते राजा के पास गए पूछा इसमें साक्षी कौन लोक में साक्षी बता दिया इसने ऐसा कहा इसने ऐसा किया अब एक एक एक की जय एक की पराजय हो गया जो विवाद करते राजा ने निर्णय कर दिया नहीं ये गलत बोलता है इसको दंड दो तो लौकिक साक्षी राग द्वेष वाला नहीं हुआ वो तो वास्तव सत्य बता दिया जैसे देखा तैसे बता दिया यद्यपि कस्य चीज जय हेतु अन्य से पराजय हेतु तो। एक की जय का हेतु हो गया साखी एक की पराजय का हेतु हो गया क्योंकि वो कहने से दोनों में विवाद था राजा ने निर्णय कर दिया ये इसकी गलती है इसका गलती गलती नहीं इसको दंड मिलेगा जय पराजय हेतु तो हुआ रहा साक्षी फिर राग आदि मान न कहते थे क्योंकि यथोपलब्ध भाव सित्वा था जैसे देखा तैसे कहा उसका कोई दोष नहीं हम मिथ्या बोल रहे तो दोषी होगा जैसे देखा ऐसे कहा साक्षात दृष्टि संज्ञा में साक्षी बनता है साक्षात देखा है जैसे देखा ऐसे बता दिया जैसे देखा ऐसे बता देने से वो राग द्वेष वाला नहीं है इसी प्रकार तथा ईश्वर क्रिया आदि साक्षी राग आदि मान भविष्यति कर्म फल जानने वाला क्या कर्म कौन करता है पाप पुण्य कर्म कैसे चिंतन करता मन में राग द्वेष करता है कब क्या करता है कैसे ध्यान करता है किसका सब जानने वाला ईश्वर किस कर्म का क्या फल वो भी जानते कर्म के अनुसार फल उसको देते हैं जैसे कर्म करेगा ऐसे फल प्राप्त करेगा तो ईश्वर राग आदि मान न भविष्यति क्योंकि अननुरूप दातृत्व हर हाँ, राग आदि मान तभी होगा पापी को स्वर्ग भेज दे और पुण्य करने वाले को नरक भेज दे तब तो राग आदि मान हो जाएगा ये अननुरूप अदातृत्व तो अननुरूप नहीं देता ईश्वर फल अनुरूप ही देता है जैसा जो कर्म करता है ऐसे ही फल उसको देता है ईश्वर का कोई दोष नहीं कर्म जैसे क्या ऐसे फल मिलता सब लोग काल ही कर्म है ईश्वर मिथ्या लोग दोष लगाए ईश्वर की निंदा करते हैं हम वैसे से दिया मैंने क्या दोष किया कहते हमने क्या गलती की हमने क्या गलती की अरे अभी गलती नहीं की तो पहले गलती की पाप कर्म क्या कहो बता हमने क्या पाप किया हम कितने कष्ट मिला इसी जन्म में नहीं किया पहले किया है तभी फल मिला हमने किया इतने पाप मैंने किया था और किसने नहीं किया बहुत लोग ने क्या है जिन्होंने किया है उन्होंने को मिलता है तुमने भी किया तो कहते दूसरे को दोष देते ये उसने दोष दिया उसने ऐसा हम कर दिया कोई कुछ नहीं करता है अपने पाप कर्म का फल है पाप कर्म फल देगा तो निमित्त कहीं ना कोई कोई बन जाएगा पाप कर्म फल भोगना ही पड़ेगा तो ये वो साक्षी है जानते हैं किसको क्या का फल मिलेगा इसलिए जैसे कर्म ऐसे ही फल देता है राग द्वेष वाला नहीं राजा पे असाधुन दंडयन साधुन परिरक्षण न रागादिमान कथ्यति भाव राजा भी असाधु को दंड देगा चोर को और साधु की रक्षा करेगा तो राग देश वाला हो गया ना नहीं रागादिमान नहीं कहते नहीं कहता है हाँ यदि विपरीत करेगा तो कहेंगे पक्षपात करता है राग देश वाला माने साक्षी तो तर ईश्वर से इच्छा क्रिया साधन और पूर्व कहता है ईश्वर यदि साक्षी हो गया साक्षात दृष्टरी साक्षात दिखता है ईक्षण करेगा ईक्षण क्रिया साथ दर्शन क्रिया उसमें होगी ईश्वर नित्य ज्ञान है उसमें दर्शन क्रिया दर्शन रूप क्रिया ज्ञान रूप क्रिया माने के क्रिया वाला हो जाएगा ईश्वर तत्र नित्य विज्ञान स्वभाव विज्ञान स्वभाव विज्ञान ज्ञान है कोई सामने आया प्रकाश उसको प्रकाशित हो गया प्रकाश नित्य प्रकाश है सामने घटा है तो प्रकाशित हो गया और घटाने पर प्रकाश को सूर्य की तरह आना पड़ता है क्या सूर्य भगवान है धूप है वहां घट लेकर आप जाओ तो आपको प्रकाश आ जाएगा नहीं तो नहीं है इसी प्रकार नित्य विज्ञान स्वभावे वो कुछ करना नहीं पड़ता है जो वस्तु है वह प्रकाशित तो हो जाता है है मैं नित्य विज्ञान स्वभावस्य अनिर्वाच्य विषयावच्छेदन साक्षित्वम कल्पितम इत्यर्थ साक्षी तो कोई पारमार्थिक नहीं है साक्षी तो ब्रह्म आत्मा पारमार्थिक है किंतु साक्षीत्व नाम को कोई धर्म पारमार्थिक नहीं साक्षीत्वम साक्षीत्वम पारमार्थिक नहीं है तो ईश्वर में ब्रह्म में साक्षित्व कैसे कल्पितम जगत कर्तृत्वम भी पारमार्थिक नहीं है जगत कर्ता ईश्वर तो वास्तव है पारमार्थिक ब्रह्म उसमें जगत कर्तृत्व धर्म पारमार्थिक नहीं है माया से ही जगत कर्तृत्व इसी प्रकार यहाँ नित्य विज्ञान स्वभाव है ब्रह्म किंतु साक्षी तो कैसे हुआ विषय अवच्छेदन साक्षीत्वम विषय क्या है सत है असत है विषय सत नहीं असत नहीं उभय नहीं अनिर्वाच्य रज्जु में सर्प जैसे अनिर्वाच्य है रज्जु में सर्प सत नहीं सत हो तो बाद नहीं होता रज्जु ज्ञान के बाद असत हो तो भ्रांति में सर्प नहीं दिखता भ्रांति काल में सर्प दिखता है इसलिए असत नहीं है भ्रांतिवाद होने से सत नहीं असत नहीं अनिर्वचनीय है इसी प्रकार जितने विषय है सब अनिर्वचनीय अवच्छेद न साक्षित्व उसमें कल्पित अवच्छेद में विषय उपाधि को लेकर के साक्षित्व कल्पित है वास्तव नहीं है सर्वस्य जीवस्य आत्मभूतश्चेद ईश्वर स्तरीय संसार धर्म में लिपित संसार अभिदान ये बड़ा दोष है यदि सारे जीव से अभिन्न हो गया ईश्वर ब्रह्म कोई अलग नहीं है जीव से अभिन्न कौन से जीव से अभिन्न है आप से अभिन्न अन्य जीव से अभिन्न है क्या सारे जीव से अभिन्न एक जीव तो एक अपने दुख भोग करता है सब जीव से अभिन्न ईश्वर हो गया तो सारे दुख भोग करेगा ईश्वर आपके हाथ में फोड़ा हुआ हाथ कट गया तो आपको कष्ट होता है क्या पैर में कट कट जाए तो कष्ट होगा होगा पीठ में मच्छर काटेगा तो कष्ट होता है पूरा जहाँ भी हो आपको कष्ट हुआ सारे जीव यदि ईश्वर से अभिन्न हो गए तो क्या होगा सारे जीव का कष्ट ईश्वर में आ जाएगा और जो लोग मानते अवयव वो कहते हमारे ऊपर दोष नहीं अभिन्न अभिन्न नहीं मानते किंतु अवयव में कष्ट होगा तो अवयव को कष्ट होता ना नहीं हाथ पैर नाक पानी इधर उधर कट गया तो कष्ट होता है ये तो सब के ऊपर है किंतु वेदांत के ऊपर दोष देते अभिन्न यदि है सारे जीव का कष्ट ईश्वर में आ जाएगा बड़ा दोष है सर्वस्य जीव से आत्मभूतस्य ईश्वर तरी संसार धर्मे लिप्येत तो संसार धर्म से लिप्त हो जाएगा जय सुख दुख खाली सुख दुख नहीं जन्म वर्ण सब संसारी अभिदात संसारी से अभिन्न होने के कारण संसारी धर्म सब आ जाएगा इति आशंका है संसार धर्मे असंस्पृष्ट संसार धर्म से असंबद्ध असंग हुआ जाए पुरुष तो संसार धर्म से संबद्ध नहीं होता है राज्य में सर्प कल्पित कल्पित है भ्रांति काल में जो सर्प दिखता है सर्प का जो धर्म और रज में आएगा या नहीं सर्प में विष है विषाक्त है रज्जु में आ जाएगा कल्पित पदार्थ का धर्म जैसे अधिष्ठान में नहीं आता है मरुभूमि में जल दिखता है जल के कारण मरे में गीली हो जाती है ठंडा ठंडी हो जाती उसका धर्म नहीं आता है इसी प्रकार अध्यस्त सर्प का धर्म जिस रज्जु में नहीं ये सब जितने संसार धर्म सब कल्पित है कल्पित धर्म का संबंध अधिष्ठान में नहीं होता है तो इसलिए संसार धर्म असंस्पृष्ट शुद्ध रहता है ईश्वर उसमें कोई संबंध नहीं है टीका में श्रुतेश्च श्रुति भी प्रमाणम न केवलम उपपत्तिर ईश्वर सिद्धि श्रुतिरपित उक्तम ताह श्रुति उदाहरति श्रुतेश्च ईश्वर सिद्ध्यति श्रुति से भी फलदाता दाता ईश्वर सिद्ध होता है श्रुतेश्च फलदाता उपपद्यते टिप्पणी में दिया श्रुति प्रमाण से भी कर्म फल देने वाला ईश्वर है न केवलम युक्ति से अनुमान से ईश्वर सिद्धि नहीं श्रुतेरपित उक्तम श्रुति से भी ईश्वर ईश्वर की सिद्धि फल देने वाला ताह श्रुति उदाहरति श्रुति का उदाहरण देते न लिप्यते लोक दुखेन बाह्य लोक दुखेन न लिप्यते क्योंकि बाह्य उसे भिन्न है अधिष्ठान अध्यस्त से भिन्न है अभिन्न है अधिष्ठानम अध्यस्त से भिन्न है लोक दुखेन न क्योंकि बाह्य अधिष्ठान जरा मृत्यु जरा मृत्यु को अतिक्रांत करके जरा मृत्यु है ही नहीं अधिष्ठान में विजर विमृत विजर जरा रहित मृत्यु रहित सत्य काम सत्य संकल्प का ये जीव से विलक्षण ऐसा सर्वेश्वर पुण्यम कर्म कारयति पुण्य कर्म कराता है अनस्नान अभिचाकसिति कर्म फल भोगने वाला जीव है अन्य है ईश्वर केवल देखता रहता है विषम पश्यति एतस्य अक्षर से अक्षर परमात्मा के शासन में सब सूर्य चंद्र आदि अपने अपने व्यापार करते हैं इत्यादि असंसारेण एकस्य आत्मन नित्य मुक्त से सिद्धो सुतय असंसारी कितने हैं संसारी अनेक संसारी असंसारी एक है एक ही असंसारी सबका आत्मा है एकस्य आत्मन नित्य वह नित्य मुक्त है उसकी सिद्धि के लिए श्रुति बहुत है स्मृतेश्च श्रुते से ये चकाते असंस्पृष्ट मूल भाषा में संसार धर्मेर असंस्पृष्ट श्रुतेश्च चय जिसके च नहीं बना दो श्रुतेश्च भाष्य में स्मृतयश्च स्मृति भी प्रमाण है यथा सर्वगतम सौक्ष्माद आकाशम नोपलिप्यते जैसे सूक्ष्म आकाश लिप्त नहीं होता है सर्वत्र अवस्थित दे आत्मा किसे लिप्त नहीं होता है समन सर्वेषु भूतेषु सुतिष्ठन्त परमेश्वर सम में सर्वत्र व्यापक ईश्वर है ईश्वर भूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति सर्व के हृदय में अंदर बाहर है हम्म, आगे भाष्य में न हम्म, लिप्यते लोक दुख ये हो गया आगे स्मृतेश्च सहस्रश विद्यन्ते सुते बहुते है अच्छा टीका में यद उत्तम अर्थवादत्वाद अप्रामाण्यम पूर्व पक्ष ने कहा था ईश्वर सद्वा में कोई प्रमाण है ही नहीं जो श्रुति प्रमाण दे तो, तो सो अर्थवाद स्तुति के लिए कह दिया कर्म की स्तुति करने के लिए कह दिया अर्थवाद है वो तो कोई प्रमाण नहीं पूर्व पक्ष ने कहा था इसका भी निराकरण करता सिद्धांति तुमने जो कहा था अर्थवाद करके ठीक न च अर्थवादाः शक्यन्ते परिकल्पयितुम् यदुतम अर्थवादत्वात् अप्रमाण्यम ईश्वर अस्तित्व में श्रुति प्रमाण नहीं क्योंकि अर्थवाद है अर्थवाद होने के कारण स्वार्थ में प्रमाण नहीं है केवल किसी की स्तुति के लिए कह दिया अर्थवाद कहने का अर्थ स्वार्थ में प्रमाण नहीं अग्नि ने रोया आंसू गिरने से रजत हो गया ये सब प्रमाण नहीं केवल रजततान क्या निषेध है उसके लिए निंदा करने के लिए आख्यायिका आ गई स्वार्थ में तात्पर्य नहीं इसलिए ईश्वर में कोई प्रमाण नहीं ये पूर्व जी ने कहा था सिद्धांति कहता न च अर्थवादा शक्यंत कल्पयित कहीं अर्थवाद है कि इसका मतलब नहीं जहाँ जो मिला सो अर्थवाद कह दो ऐसा नहीं अर्थवाद होने के लिए देखना पड़ता है जिसका स्वार्थ के तात्पर्य अन्वय अन्वय नहीं होता है तो वहाँ सब शब्दार्थ बोध नहीं होता है क्यों कहा गया क्या इसका मतलब है वहाँ कुछ अर्थवाद कल्पना करेंगे विरोध होता है प्रत्यक्ष विरुद्ध लकड़ी को यूप कह दिया आदित्य तो युप युप लकड़ी आदि युप है उसको आदित्य कह दिया सूर्य और सूर्य तो नहीं है तो वहाँ कुछ कल्पना करना पड़ेगा ये अर्थवाद है यहाँ क्या है अनन्य योगित्व सति विज्ञान उत्पादकवाद अन्य कर्म प्रकरण में है तो कर्म विधेय की स्तुति के लिए अन्य योगी हो अर्थवाद वाक्य विधेय की स्तुति के लिए निषिद्ध की निंदा के लिए ये कर्म प्रकरण नहीं स्वतंत्र वेदांत प्रकरण में ईश्वर सिद्ध वाक्य है अनन्य योगी तो अन्य योगी नहीं अन्य किसके साथ इसका संबंध नहीं है और विज्ञान उत्पादकत्वाद जो ज्ञान उत्पादक नहीं होता है अप्रमाण्यम त्रिधा भिन्नम मिथ्यात्व ज्ञान संशय मिथ्यात्व अज्ञान संशय ब्रह्म ज्ञान है मिथ्यात्व कहीं वाक्य से संशय ज्ञान हो तो प्रमाण होगा जिस वाक्य से अर्थबोध नहीं होगा वो भी अप्रमाण है ये तो विज्ञान का उत्पादक वाक्य है ईश्वर सद्वामी जी श्रुति है न लिप्यत लोक दुखेन बाह्य विजरो विमृत सत्य काम ये ज्ञान का उत्पादक होने से ज्ञान अनुत्पादक रूप अप्रमाण नहीं प्रमाण है विज्ञान का उत्पादक और ज्ञान होता है किसी का के प्रकरण में नहीं है इसलिए अर्थवाद नहीं है अच्छा ज्ञान होने मात्र से यदि ज्ञान कहीं बाध हो जाए शास्त्र में तात्पर्य नहीं मानेंगे किंतु इसका कोई बाध नहीं है है मैं ईश्वर विषयाणि वाक्यानि न कर्म विधि सन्निधि समामनातानि ईश्वर विषय को जो वाक्य कर्म विधि के सन्निधि में नहीं पढ़े गए हां कर्म प्रकरण में हो तो अर्थवाद मानते कर्म प्रकरण जैसा है वायुर्वेक्षे पिष्टा सो अरुदिति यद अरुदित रुद्रस रुद्रत्वम ये कर्म प्रकरण वाक्य अर्थवाद हो ईश्वर विषय के वाक्य कर्म विधि के सन्निधि में नहीं है अतो अनन्य से सत्य अन्य का शेष नहीं अन्य का कर्म का शेष नहीं कर्म की स्तुति के लिए नहीं बोधकत्वाद बोधक ज्ञान जनक है जो ज्ञान जनक है अन्य का शेष नहीं स्वार्थे प्रमाणानि स्वार्थ में प्रमाण है कर्म विधि वाक्यवद ईश्वर विषयानि वाक्यानि सार्थे प्रमाणानि अनन्य से सत्य सति बोधकत्वात् कर्म विधि वाक्यवत अनुमान आ गया दृष्टांत क्या है कर्म विधि वाक्य पक्ष क्या है ईश्वर विषयानि वाक्यानि ये वाक्यों को पक्ष बना दिया साध्य क्या होगा सार्थे प्रामाण्यानि सार्थे प्रमाणानि सार्थे प्रामाण्यम साध्य और हेतु क्या है अनन्य से सत्य सत्य बोधकत्वात् इत्यर्थ किंच अर्थवादत्वेपि ना प्रामाण्यम अब सिद्धांत कहता अर्थवाद तो है ही नहीं और अर्थवाद होने पर अप्रमाण हो जाए ये भी कोई जरूरत नहीं है अर्थवाद को भी समझना चाहिए विरोधे गुणवाद स्याद अनुवादो अवतारिते भूतार्थवाद तद्धनाद अर्थवादस त्रिधामतः तीन प्रकार अर्थवाद है विरोधे गुणवाद है जहाँ प्रत्यक्ष आदि किसी प्रमाण से विरुद्ध होता है वहां गुणवाद स्तुति के लिए कहते वह लड़का तो अग्नि है अग्नि मानव को अग्नि कहाँ अग्नि तो है नहीं तो अग्नि कहते सिंह है लड़का सिंह कैसे हो जाएगा तो विरोध है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण विरुद्ध है तो स्तुति करने के लिए कह दिया सिंह जैसे पराक्रमी अग्नि जैसे तेजस्वी ऐसे कह दिया तो आदित्य यूप विश्व प्रकार लकड़ी से यूप बनाए वो तो आदित्य सूर्य नहीं है तो श्रुति कहती है तो गुणवाद स्तुति के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध से होने से गुणवाद किसी प्रमाण का प्रमाण से विरोध हो तो गुणवाद स्तुति हो गया और अनुवाद अवधारित यदि अवधारित निश्चित है किसी प्रमाण से ऐसे वाक्य आया इसको कहते अनुवाद अग्निर्हिम से भेषजम ठंडा है तो अग्नि गर्म सेवन करो तो ठंडा दूर हो जाएगा ये अग्निर्हिम से भेषजम ज्ञात है आयुर्वेद शास्त्र में प्रसिद्ध है ऐसा वाक्य मिलेगा तो इसको कहेंगे अनुवाद किसी प्रमाण से ज्ञात है तो क्या मानेंगे अनुवाद और किसी प्रमाण से विरुद्ध है तो गुणवाद जहाँ प्रमाणांतर से ज्ञात नहीं किसी प्रमाण से विरुद्ध नहीं होता है भूतार्थवाद तद्धानात तयोरहानात दोनों नहीं हो तो दोनों नहीं मतलब गुणवाद नहीं अनुवाद नहीं प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं किसी प्रमाण से ज्ञात नहीं ऐसा वाक्य मिला तो भूतार्थवाद यथार्थ कथन है वज्रहस्त पुरंदर इंद्र के हाथ में वज्र है किस प्रमाण का विरुद्ध है प्रत्यक्ष देखा इंद्र को वज्र के बिना किसी प्रमाण विरुद्ध नहीं और अन्य प्रमाण ज्ञाति भी नहीं जो लोक में कोई प्रसिद्ध है वज्र के हाथ में इंद्र के हाथ में वज्र ये श्रुति प्रमाण मूल है अन्यतर प्रसिद्ध नहीं है इसलिए प्रमाणांतर ज्ञात नहीं प्रमाणांतर विरुद्ध नहीं होने से ये वज्रहस्त पुरंदर वाक्य स्वार्थ में प्रमाण है भूतार्थवाद तद्धनात् तीन प्रकार है इस प्रकार यहाँ ईश्वर प्रतिपादक वाक्य अन्य कर्म प्रकरण में नहीं ज्ञान उत्पादक हुआ किस प्रमाणांतर से विरुद्ध नहीं अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं इसे यथार्थ कथन है सिद्धांत कहता है हे नहीं अर्थवाद अर्थवाद होने पर भी न अप्रमाण्यम अर्थवाद मात्र से अप्रमाण नहीं होता है पद समन्वय बोले न जायमान से ज्ञान से बाधा दर्शनाथ यदि अन्य प्रमाण से विरुद्ध हो जाए बाध हो जाए तब तो कहेंगे अप्रमाण ज्ञान नहीं हो तो कहेंगे अप्रमाण पद का समन्वय होकर अर्थ ज्ञान हो जाता है ज्ञान का बाध नहीं होता है और सत प्रामाण्याद अप्रमाणी सत प्रमाण है वेद अस्य बाधयितानुपपदे इसका बाध कोई नहीं कर सकता है इसलिए जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे मानना पड़ेगा ज्ञान ईश्वर के लिए जैसे कहा गया न च उत्पन्न विज्ञान बाध्यते कोई ज्ञान हो करके उसका बाध हो गया तो पहला ज्ञान पहला वाक्य अप्रमाण हो जाएगा किंतु बाध नहीं होता है तो प्रमाण है ज्ञान उत्पन्न होकर बाध कहाँ होता है अब नितस्य ना प्रामाण्य मिथ्या अप्रतिषेधाच बाध नहीं होता है उसका बाध करें सबसे प्रमाण है बल प्रबल प्रमाण नहीं श्रुति प्रमाण उसका बाध नहीं होता है श्रुति प्रमाण तो प्रतिष्ठादि को भी बाध कर देगा श्रुति कहते नेह नानास्ति किंचन तो कोई है नहीं ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है श्रुति कहते हो श्रुति प्रमाण जन्य ज्ञान का बाध नहीं होता है इसलिए स्वार्थ में प्रमाण सत्य प्रमाण है और इतस्य अप्रमाण न अप्रमाण इस कारण से अप्रतिषेधाच प्रतिषेध ईश्वर के लिए कुछ कहा आगे ईश्वर का प्रतिषेध करती श्रुति तब त अप्रमाण होता ऐसे कह करके प्रतिषेध कहां होता है टीका में दिया यथा द्वे भाव ब्रह्मण रूपे मृतम चेवामृतम च इति प्रस्तुत्य नेत नेति परस्ताद प्रतिषेधति मेवम ईश्वर प्रस्तुत्य प्रतिषेध उपलभ्यते इत्यर्थ द्वे भाव मृतामृत ब्राह्मण आया ब्रह्म का दो रूप है द्वे भाव भाव का तेव दो ही ब्रह्म का रूप है एक मूर्त और एक अमृत मूर्त पृथ्वी जल तेज अमृत है वायु आकाश ये पांच भूत इनसे निरूपण रूप्यते अननैत रूपम इसके द्वारा निरूपण होता है क्योंकि ब्रह्म शुद्ध उसका ज्ञान होगा ये सब भूत भौतिक आरोपित वस्तु से अध्यारोपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपंचते अध्यारोपवाद करके भूतों की सृष्टि कही गई उनके द्वारा उनका जो अधिष्ठान उनका नेति नेति कर निषेध करेंगे जो अधिष्ठान नाम रूप का निषेध कर दिया तो जो उसका अधिष्ठान वही ब्रह्म है तो ब्रह्म का निरूपण करने के लिए मूर्त अमृत दो रूप का दो रूप कह करके ऐसे सब को निश्चय हो गया पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ये सत्य होगा सृष्टि कही गई इसलिए आगे सृष्टि कहते नेत नेति नेत नेति करके सब का निषेध है मूर्त अमृत सब निषेध कर दिया परस्तात प्रतिषेधति इस प्रसिद्ध हो जाने से मूर्त अमृत दोनों में कौन सत्य होगा कोई नहीं दोनों का निषेध हो गया इसी प्रकार ईश्वरम प्रस्तुत प्रतिषेध न उपलभ्यते ईश्वर के लिए श्रुति कहती है उसका प्रतिषेध नहीं है इसलिए प्रतिषेध नहीं होने से वो प्रमाण है पूर्व पीछे कहता प्रतिषेध नहीं होने मात्र से ईश्वर है ये कोई जरूर नहीं कहीं देखा वाक्य बंध्यापुत्र का प्रतिषेध किया गया बंध्यापुत्र का प्रतिषेध नहीं किया गया मतलब बंध्यापुत्र है बंध्यापुत्र का प्रतिषेधा नहीं होने से बंध्यापुत्र सिद्ध हो जाएगा क्या ये पूर्व जी कहता है ईश्वर का प्रतिषेध नहीं हुआ क्यों ईश्वर है इसलिए प्रतिषेध नहीं क्या ये बात नहीं प्रतिषेध अभाव सत्वात् न भवति प्रतिषेध का अभाव ईश्वर है इसलिए प्रतिषेध नहीं हुआ आप ऐसे कहो तो ये ठीक नहीं प्राप्त हो तो प्रतिषेध होगा अप्राप्त का प्रतिषेध क्या अत्र बंध्यापुत्र नास्ति प्रतिषेध करते क्या बंध्यापुत्र यहाँ नहीं कहीं हो तो यहाँ प्रतिषेध करेंगे बंध्यापुत्र कहीं भी नहीं तो अत्र नास्ति तत्र नास्ति कैसे कहा जाएगा जहाँ कोई प्राप्त हो निषेध करेंगे पृथ्वी जल तेज में रूप है है क्या रूप ये भूत रूप है तो वायु भी भूतन से उसमें रूप हो सकता है इसे निषेध करते नहीं वायु रूपम नास्ति घटो वहाँ रखा गया तो यहाँ भी घटो सकता है कहते हैं भूतले घटो नास्ति प्राप्त हो तो निषेध किया जाएगा अप्राप्त निषेध नहीं होता है इसलिए ईश्वर का प्रतिशत नहीं होने से ईश्वर है ये सिद्ध नहीं होगा ईश्वर का प्रतिशत नहीं या मानते प्रतिशत अभाव किंतु ईश्वर से सत्वात प्रतिशत अभाव न ईश्वर है इसलिए प्रतिशत अभाव ऐसा नहीं है तो फिर प्रतिशत अभाव प्रतिशत क्यों न क्या नहीं किया गया अप्राप्तत्वात् है किंतु अप्राप्तत्वात् उसकी प्राप्ति ही नहीं प्रतिशत क्यों करेंगे प्राप्त हो तो प्रतिशत करेंगे प्राप्त नहीं तो प्रतिशत ईश्वर की प्राप्ति नहीं ईश्वर कोई सिद्ध हो तो उसका प्राप्ति हो तो निषेध करेंगे ईश्वर की प्राप्ति नहीं तो प्रतिषेध क्यों होगा यथा राग तो कैसे प्राप्ति होने प्रतिषेध होता है मां हिंसा सर्वाभूतानी हिंसा का प्रतिषेध किया गया श्रुति में किसका प्रतिषेध किया गया हिंसा का हिंसा की प्राप्ति है क्या हाँ हिंसा की प्राप्ति हो उनसे प्रतिषेध हुआ जैसे यथा रागतः प्राप्ता भूत हिंसा राग से आसक्ति के कारण प्राप्त होता है राग से प्राप्त है कोई क्रोध से मारते है कोई खाने के लिए मारते है भूत हिंसा प्राप्त है क्रोध से किसको कोई द्रोह करता है भूत हिंसा प्राप्त है निषिद्धते निषिद्ध क्या गया इसी प्रकार ईश्वर की प्राप्ति है ही नहीं पूर्व पक्षी कहता नैवम ईश्वर से प्राप्ति रहती ईश्वर की प्राप्ति नहीं तो निषेध क्यों करेंगे हाँ हिंसा प्राप्त है उसका निषेध किया गया ईश्वर की प्राप्ति नहीं तो निषेध क्यों करेंगे ईश्वर से प्राप्ति नास्ति इति अन्यथा सिद्धि आशंक्य अन्यथा सिद्धि किसकी हेतु प्रतिषेध अभाव प्रतिषेध अभावत ईश्वर है ये तो अन्यथा सिद्ध हो गया अन्यथा सिद्ध क्या है ईश्वर अप्राप्त होने से प्रतिषेध नहीं हुआ अन्य प्रकार सिद्ध हो गया प्रतिषेध अभाव सिद्ध हो गया कस्मात प्राप्ति अभावात ईश्वर की प्राप्ति ही नहीं तो प्रतिषेध क्यों होगा ऐसा आशंका हमसे सिद्धांत कहता है प्राप्ति अभावादित चेन उक्तत्वात् पूर्व पीछे ने कहा प्राप्ति अभावादिति चेत ईश्वर की प्राप्ति नहीं सिद्धांतिकता कहता इति चेन उक्तत्वात् ईश्वर की प्राप्ति बता दिए अनुमान करके अनुमान से ईश्वर की सिद्धि बता दी इसलिए प्रतिषेध नहीं तो ईश्वर है टीका में अप्रतिषेधात् इति संग्रह वाक्यम प्रकारांतरण व्याचष्टि अच्छा भाष्य में पहले न ही स्यादितिवत प्राप्ति अभावात प्रतिषेध आरभ न आरभ्यते तिचे न ईश्वर सद्भाव न्याय सूक्तत्वात् ये जो प्राप्ति अभावाद इति न उक्तत्वात् ये संग्रह वाक्य उसकी व्याख्या भाष्य में न हिंसादितिवत प्राप्ति अभावात प्रतिषेध नारभ्यते इति चेत न स्या सर्वभूता निषेध किया गया क्योंकि प्राप्ति है किसकी प्राप्ति है हिंसा की प्राप्ति होने से प्रतिषेध हुआ किंतु ईश्वर की प्राप्ति नहीं होने से प्रतिषेध नहीं हुआ थे यदि चेत सिद्धांतिकता न ईश्वर सद्भावे न्याय सुक्तत्वात् ईश्वर है इसमें न्याय प्रमाण दिया गया अनुमान प्रमाण बता दिया है ईश्वर न्याय से सिद्ध है जैसे कृषि सेवा आदि का फल राजा आदि देते हैं इस पर कर्म फल देने वाला कोई है ईश्वर मानना पड़ेगा जो कर्म फल के अभिज्ञ हो यह अनुमान से सिद्ध क्या अप्रतिषेधात अप्रतिषेधात ये संग्रह वाक्य था इसको अन्य प्रकार की व्याख्या करते हैं प्रकारांतरण व्याचष्ट अथवा अथवा अप्रतिषेधादिति कर्मण फलदाने ईश्वर कालादिनाम न प्रतिषेध होती पूर्व पीछे ने कहा यजेत स्वर्ग काम याग करेगा तो स्वर्ग मिलेगा याग स्वर्ग साधन इतने सिद्ध हो गया कर्म से फल मिल जाएगा सिद्धांत कहता है कर्म से फल मिल जाएगा ये तो श्रुति में कहा गया किंतु कर्म से और कोई नहीं चाहिए ऐसे कहा गया क्या अन्य किसका प्रतिषेध किया गया स्वर्ग काम देखो अथवा अप्रतिषेधात का अर्थ कर्म न फलदाने ईश्वर कालादि नाम न प्रतिषेध होती ये कर्म फल देता है ठीक है किंतु कर्म फल देने के लिए ईश्वर काल आदि का प्रतिषेध किया गया क्या ईश्वर जरूरत नहीं काल जरूरत नहीं कुछ जरूरत नहीं केवल कर्म फल देगा ऐसा श्रुति में कहा गया श्रुति कहती तो स्वर्ग काम ठीक है कर्म में स्वर्ग फल देने का सामर्थ्य है फल देने का सामर्थ्य मतलब अन्य किसी की आवश्यकता नहीं कोई व्यक्ति लाया भोजन पकाने के लिए बहुत अच्छा जानता है तो कहते हैं भोजन पकाएंगे तो हम महीना में पचास हजार रुपया लेंगे देकर ले आओ पका देगा कोई सामग्री के बिना अच्छा जानता है ना अच्छा जानता है मतलब सामग्री नहीं भोजन बना तो बना देगा कुछ नहीं बन सकता है इस कर्म फल देता है इसका अर्थ और कुछ नहीं चाहिए ऐसा नहीं कहा गया अथवा भाष्य में क्या अथवा अप्रतिषेधादिति कर्मन फलदाने कर्म का फलदान के लिए ईश्वर कालादिनाम प्रतिषेध नास्ति प्रतिषेध नहीं है ठीक है मैं स्वर्ग काम यज इत्यादि शास्त्रम याग से फलदायिनी शक्ति द्योतयति स्वर्ग काम यजते वाक्य है शास्त्र है क्या करेगा वाक्य याग में स्वर्ग देने वाली शक्ति है इसको सूचित कर देगा प्रकाश कर देगा यजेत स्वर्ग काम या करे तो स्वर्ग मिलेगा इतना हो गया किंतु ये अर्थ नहीं कि अन्य सहकारी का कोई आवश्यकता न सहकारी कोई आवश्यक नहीं है न सहकार्यंतर निषेधयति यजेत स्वर्ग काम याग स्वर्ग साधन ये तो कहेगा और अन्य कोई सहकारी का जरूरत नहीं कहेगा नहीं एक वाक्य एक अर्थ को कहेगा दो अर्थों कहेगा तो क्या दोष होगा वाक्य भेद याग स्वर्ग साधन हो गया और नहीं कि याग स्वर्ग साधन हो गया याग और कुछ भी नहीं चाहिए ऐसा नहीं पुण्य कर्म से सुख मिलता है पाप कर्म से दुख मिलता है तो पुण्य कर्म खाली बैठे बैठे सुख दे देता है क्या और निमित्त प्राप्त होता है देश काल निमित्त से ही मिलेगा देखो सहकार्यंतर का निषेध नहीं करता है यजित स्वर्ग का वाक्य वाक्य भेद प्रसंगात तो याग स्वर्ग साधन ये भी कहेगा और याग से किसी की आवश्यकता नहीं कहेगा तो वाक्य भेद की आपत्ति है इतच शास्त्रम अयोग व्यवच्छेदकम वाच्यम नान्य व्यवच्छेदकम नान्य योग व्यवच्छेदकम एक होता है यजित स्वर्ग काम कौन से याग स्वर्ग साधन है याग स्वर्ग साधन का अर्थ अन्य कुछ भी स्वर्ग साधन नहीं ऐसा है क्या पार्थ एव धनुर्धर अर्जुन ही धनुर्धारी है पार्थ एव धनुर्धर जो एव है इसको कहते अन्य योग व्यवच्छेद अन्य संबंध का व्यवच्छेद निषेध करने के लिए पार्थ ही धनुर्धर है उसके समान धनुर्धर दूसरा नहीं है पार्थ एव धनुर्धर ये विकार का अर्थ क्या हुआ अन्य योग व्यवसाय योग संबंध अन्य संबंध का निषेध करना पार्थ जैसे धनुर्धारी उसे कोई दूसरा है ही नहीं एक होता अयोग व्यवच्छेद अयोग होता असंबंध का निषेध करना शंख पांडुर एवच शंख पांडुर वर्ण है असंबंध का निषेध कर दिया असंबंध नहीं पांडुर वर्ण शंख में है इसी प्रकार याग स्वर्ग साधन है याग स्वर्ग साधन का था और कोई भी स्वर्ग साधन नहीं है यह अर्थ होगा तो क्या होगा याग में स्वर्ग साधनत्व है का तो स्वर्ग साधनत्व का अयोग का निषेध कर दिया स्वर्ग साधनत्व के अयोग का संबंध का निषेध अर्थात संबंध है याग स्वर्ग साधन है किंतु अन्य कोई नहीं ऐसा अर्थ है क्या ये कहीं कोई चैत्र व्याकरण ये व्याकरण जानते हैं अर्थात अन्य कोई नहीं जानते यह अर्थ हुआ यदि कहेंगे चैत्र एव व्याकरण चैत्र ही व्याकरण है और कोई इसके समान नहीं ये अर्थ होगा अयम व्याकरण कहेंगे तो इसका अर्थ है कि अन्य कोई व्याकरण नहीं अयम व्याकरण ये है ये व्याकरण जानते हैं अर्थात अन्य कोई नहीं जानते ऐसा नहीं इसी प्रकार याग स्वर्ग साधन हुआ और याग से अन्य कोई नहीं बात नहीं अन्य भी है इसलिए शास्त्र जो यजित स्वर्ग काम से याग स्वर्ग साधन सिद्ध होता है ये अयुग व्यवच्छेदक शंख पांडु एवच अन्य भी है स्वर्ग साधन कहना पड़ेगा न अन्य व्यवच्छेद कम अन्य युग का व्यवचेदक नहीं जैसे पार्थ एव धनुर्धर अर्जुन ही धनुर्धर है और दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा नहीं है और एक होता है अत्यंत अयोग व्यवचेद अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद बिल्कुल होता ही नहीं इसका निषेध करने के लिए कोई कहते पद्म तो हम देखें पद्म नील देखा रक्त देखा अलग प्रकार देखा किंतु नील नहीं लाल देखा सफेद देखा है गुलाबन का देखा है किंतु नील पद्म नहीं होता है तो कोई कहता है नीलम पद्म भवत्येव नीलम पद्म पद्म भवत्येव भवत्येव कहन से क्या है अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद नहीं होता ये बात नहीं होता है ऊपर बद्री आदि में कहीं मिलता है नील कमल नीलम कमलम भवत्येव भवत्येव कहेंगे तो नहीं होता ही बात नहीं होता है अत्यंत अयोग का व्यवच्छेद तो तीन प्रकार होता है एक होता अयोग व्यवच्छेद अन्य योग व्यवच्छेद अत्यंत अयोग व्यवच्छेद अयोग व्यवच्छेद का उदाहरण शंख पांडुरेवच अन्य योग व्यवच्छेद का उदाहरण पार्थैव धनुर्धर अत्यंत अयोग व्यवच्छेद का उदाहरण नीलम पद्मम भवत्येव तो यहाँ याग स्वर्ग साधन है कौन सा हवा अन्य योग व्यवसद या अत्यंत योग व्यवसद या अयोग व्यवसद अयोग व्यवसद मानना अच्छा देखो अन्य साधन के बिना केवल कर्म फल नहीं देगा देखो श्रक चंदन वनिता आदि निमित्त निरपेक्षस्य कर्मण फले तो, तो बाद पुण्य कर्म फल देगा साधन के बिना श्रक चंदन वनिता भोजन आदि कुछ नहीं मिलेगा और सुख मिल जाएगा पुण्य कर्म के कारण सुख मिल जाएगा भोजन के बिना हो जाएगा पुण्य कर्म से अच्छा भोजन मिलेगा सक्ष नर्मनिता आदि विषय संपादन हो करके सुख मिलेगा अरे विषय नहीं खाली पुण्य कर्म से सुख मिल जाता है ऐसा नहीं होता है श्रक है माला चंदन वनिता आदि ये सब विषय निमित्त के बिना केवल कर्म से स्वर्ग सुख नहीं मिलता है अतः यथा मानांतर सिद्धम सक चंदन वनिता देर निमित्तत्वम इष्टम तथा ईश्वर से आपि इष्टव्यमित्या अन्य प्रमाण से सिद्ध है श्रक चंदन वनिता भोजन आदि सुख का निमित्त होता सुख साधन है इस प्रकार ईश्वर से स्यापि एष्टव्यम जिस पर लोक सिद्ध है राजा आदि फल देने वाले होते हैं स्वामी इसी प्रकार कर्म फल साधन है जरूर स्वर्ग साधन क्यों देने वाला ईश्वर मानना पड़ेगा क्योंकि अन्य प्रमाण से सिद्ध है जैसे सक चंद्र वनिता आदि सिद्ध है सुख हेतु पुण्य कर्म से सुख मिलेगा तो भी अन्य निमित्त मानना पड़ता है इसी प्रकार कर्म से फल मिलेगा सेवा कृषि कर्म का फल जैसे देने वाला कोई सेव्य राजा होते हैं इस प्रकार पुण्य पाप कर्म का फल देने वाला ईश्वर मानना पड़ेगा न च निमित्तांतर निरपेक्षम केवलेन कर्तृव प्रवृत्तम फलदम दृष्टम ऐसा कोई कर्म नहीं है अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं करके कर्ता प्रयोग क्या फल दे दिया कुछ निमित्त के बिना करता कर दिया कोई कर्म फल दे देगा ऐसा नहीं होगा निमित्त से कोई कार्य होने के लिए निमित्त चाहिए निमित्त से कार्य होगा ऐसा कहीं नहीं दिखा गया अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं करके केवल कर्ता कर्म को लगा कर दिया कर्म तो फल मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है अब यहां तक हो गया अच्छा इसमें जो दिया है इतच ईश्वर फलदाता वक्तव्य हाँ उसको पे बताएंगे ओम आप्यायन्तु